अली असदुल्ला अली असदुल्ला अली असदुल्ला इल्जाम ये है इश्क में दीवाना हूँ अली अली अली या मौला अली अली अली या मौला इल्ज़ाम यह है खुद से बेगाना हूँ गाना हूँ अली अली अली मौला इल्जाम है मौलाई हूँ मस्ताना हूँ हाँ इकरार है मुझको मेरी फितरत है मलंगाना अंदाज या गाना मेरी सोहबत भी फकीराना आनाज हाँ, नाज से कहता हूँ मैं हूँ हैदरी परवाना मैं हूँ सगे शाह नजफ पीर मेरा अली अली अली अली अली, अली, अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली अशहदो अन्ना अशहदो अशहद अली अली अली अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली लह दे और दिल में अली लह दे सुनो किसने दीवाना बनाया हाँ किसने मेरे कल्ब पे है डेरा जमाया और किसने विला का है मुझे जाम पिलाया वो नूर खुदा नूर नबी नूर दो चश्मानम मौलाए बशर इल्म कदर फख्र बनी आदम बाद खुदा बाद नबी सबसे बड़ा अली अली हमेरा हाँ मौला अली हाँ मेरा मौला अली हमेरा हाँ मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली लहदे लहदे और दिल में अली में अली और दिल में अली दिल में अली अली अली अली या मौला अली मौला अली अली अली या मौला हाँ, क्या साथ मेरे पीर की अल्लाह ने बनाई ऐसी तो कोई जमाने में ना आई हाँ जिसकी परस्तार है ये सारी खुदाई मैदान में नबी जिसके लिए बोला जिस जिसका भी मौला हूँ मैं उसका है अली मौला आज भी है ये दिल मोमिन पे लिखा अली अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली अशहदो अन्ना अशहदो अन्ना अशहदो अन्ना अली अलीउल्ला अली अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ, हाँ, ये मेरा जुनू होश की देता है गवाही एक दो नहीं चौथा की मेरे दिल पे है शाही वल्लाह दर इल्म की करता हूँ गुलामी सलमान ने बतलाए है कुछ राज फकीराना अम्बर ने सिखाए मुझे आदाब मलंगाना इश्क मेरा अकल मेरी होश मेरा अली अली अली मौला अली अली अली मौला अली अली अली अली अली या मौला लहदे अली अली अली या मौला कलंदरों के मज़ारों को चूमने वालों कलंदरों की सदा भी कभी सुनो क्या है सदाए मलंगे अली सदाए फकीर अली फकीर अली कदर में अली बोल रहा है सीने में है दिल दिल में धड़कता है अली मौला वलियों का फकीरों का वजीफा है अली मौला अन्ना अली वलीउल्ला अली अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ, मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली हाँ मेरा मौला अली लह दे और दिल में अली लह दे और दिल में अली दिल में अली अली अली अली या मौला अली मौला अली अली अली या मौला अफसोस तेरे घर को जमाने ने सताया अफसोस तेरे सामने जहर रुलाया अफसोस मुसल्ले पे लहू तेरा बहाया अफसोस मुसल्ले पे लहू तेरा बहाया बेटों को किया कत्ल सरे वो बला मौला और बेटियां दरबार में पाबंद जफा मौला हार गए पहले जफा जीत गया अली अली हमेरा मौला अली हमेरा वजीफा मौला मेरा अकीदा मौला मेरा वजीफा मौला मेरा अकीदा अली मेरा वजीफा असदुल्ला मेरा लहद अली मेरा वजीफा असदुल्ला मेरा अकीदा अली मेरा वजीफा असदुल्ला वलीउल्लाह असदुल्लाह वलीउल्लाह असदुल्ला मेरा मुर्शिद मेरा आका मेरा सुल्तान अली अली अली मेरा मुर्शिद मेरा आका मेरा सुल्तान अली मेरा वारिस मेरा मौला मेरा ईमान अली कितने अनमोल है आला है मुकद्दर उनके जिनकी वल्लाह जमाने में है पहचान अली मेरे दिल में तो सदा मेरे दिल में तो सदा मौला मेरा रहता है काशिक रोज मेरे घर में हो मेहमान अली वलीउल्लाह असदुल्लाह वलीउल्लाह असदुल्लाह मेरा लदू वाली अलवाली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली या अबल हसन मौला जमन सुल्तान सुखन नाज चमन लाफता वाली एलिया वाली नासिर नबी वलियों का वली हमेरा मौला वाली हमेरा मौला वाली مولا علی ہمیں مولا علی दुनिया मुझे नौकर तेरा अब मुझे दौलत दुनिया की तमन्ना ही नहीं शाहिया छोड़ के आते हैं शहल शाह यहाँ और फकीर आपका मौला फकीर आपका और फकीर आपका दर छोड़ के जाता